मित्रों इस चर्चा में हम जूरी सिस्टम यानी प्रजाधीन न्याय तंत्र या आम नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को सजा देने के अधिकार के बारे में बात करेंगे इस चर्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो या ऑडियो को रोककर फिर से सुने प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं होती थी जिनके पास ये अधिकार था कि वो किसी भी राजा को निकाल सकते थे राजा के कोई भी आदेश को रद्द कर सकते थे अगर राजा ग्राम सभा के फैसले को मानने से इनकार कर दे तो राजा को बहुमत से सजा या फांसी दे सकते थे भारत के स्कूलों में पाठ्यक्रम में ये बातें पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि भारत के नेता भ्रष्ट हैं और जनता को ऐसे अधिकार देने से वे अपने काले धंधे नहीं चला पाएंगे पश्चिम के देशों में भारत के मुकाबले में भ्रष्टाचार क्यों कम है उसका कारण है कि वहां के नागरिकों के पास उनके राजनेता मंत्रियों सरकारी कर्मचारी और जजों को काम से या नौकरी से निकालने की और उनको सजा देने की प्रक्रिया या तरीका है और उनको यह करने के लिए जजों के सामने गिड़गिड़ाना या अनुरोध करना नहीं पड़ता है इस नौकरी से निकालने की प्रक्रिया को राइट टू रिकॉल कहते हैं और इस सजा देने की प्रक्रिया को जूरी सिस्टम कहते हैं मतलब कि वहां के राजनेता मंत्री सरकारी कर्मचारी और जजों के सर के ऊपर दो लटकती तलवार रहती है कि अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगा या भ्रष्टाचार करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और नौकरी में से निकालने के बाद मुझे सजा भी पंद्रह से बीस दिनों में दे देंगे सबसे पहले देखें कि हमें कोर्ट में सुधार की जरूरत क्यों है जब नागरिकों ने उन्नीस में संविधान लिखा था तो नागरिकों द्वारा सांसदों सुप्रीम कोर्ट जज भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों आदि को साफ साफ बता दिया गया था कि देश भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा देश उस संविधान के अनुसार चलेगा जिसका मतलब या अर्थ भारत के आम नागरिक तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा संविधान का किया गया अर्थ मंत्रियों द्वारा संविधान का किया गया अर्थ से ऊपर होगा लेकिन नागरिकों द्वारा संविधान का किया गया अर्थ अंतिम होगा और सबसे ऊपर होगा और यह सुप्रीम कोर्ट के जज के संविधान का अर्थ से भी ऊपर होगा इन निर्णयों के कारण ही नागरिकों ने संविधान के उद्देश्य बताने वाले भाग भूमिका में लोकतंत्र राजनैतिक न्याय और समानता जैसे शब्द रखे और भूमिका स्पष्ट बताता है कि हम भारत के लोग यानी कि भारत के करोड़ों नागरिकों ने यह संविधान बनाया है और लागू किया है और यही कारण था कि सांसदों जिनसे नागरिकों का प्रतिनिधि या नेता होने की आशा की जाती थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की शक्ति दे दी गई थी ताकि यदि कभी सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान का अर्थ नागरिकों द्वारा किए गए अर्थ से अलग ढंग या तरीके से करें तो सांसद सुप्रीम कोर्ट पर महाअभियोग या आरोप लगाने और हटाने की प्रक्रिया चला सकेंगे भारत के संविधान में बहुत से विचार पश्चिम और अमेरिका के संविधान और वहां के समाज से लिए गए हैं 1950 में जब भारत के नागरिकों ने भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने लोकतंत्र शब्द का वह अर्थ लिया था जो उस समय पश्चिम और अमेरिका में प्रचलन में था अमेरिका में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ था इसे समझने के लिए किसी व्यक्ति को अमेरिकी राज्यों के संविधान पढ़ने चाहिए उदाहरण के लिए मैरीलैंड के संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि जूरी मंडल के सदस्य अर्थात आम नागरिक कानूनों के साथ साथ तथ्यों यानी असली घटनाओं की जानकारी का भी अर्थ करेंगे अमेरिका के 20 और राज्यों के संविधानों में भी यही लिखा है और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही बोलता है दूसरे शब्दों में 1950 में अमेरिका में लोकतंत्र शब्द का साफ साफ अर्थ था एक ऐसा शासन जिसमें नागरिक कानून बनाते हैं और नागरिक ही किसी मुकदमे में कानूनों के साथ साथ तथ्यों का भी अर्थ करते हैं लेकिन अब संविधान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है यानी गलत अर्थ लगाकर बर्बाद कर दिया गया है मैं आगे एक उदाहरण यहां पेश करूंगा उसका लिंक विवरण में देखें लेख का नाम है यौन अपराधों के लिए फन प्लेस या मनोरंजन स्थल मार्टी पति पत्नी को दिसंबर 2000 में तब रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था जब वे गेटवे ऑफ इंडिया से उठाकर लाई गई नाबालिग लड़कियों के गंदे चित्र उतार रहे थे स्विट्जरलैंड के इस पति पत्नी के द्वारा नाबालिग लड़कियों के बाल यौन शोषण अपराध की डरावनी कहानी मुंबई के एक सेशन कोर्ट को कैमरे के जरिए बताई गई और मार्च 2003 में अतिरिक्त सेशन जज मृदुला भटनागर ने इस पति पत्नी को सजा सुनाई उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ उनकी अपील का ही नतीजा था कि मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार किया कि यदि इस मामले की सुनवाई तेजी से नहीं होती तो उनकी अपील सात वर्षों के बाद भी सुनी नहीं जाती जो मुख्य तौर पर उनकी सजा की अवधि थी जज ने उन्हें प्रत्येक पीड़ित को एक एक लाख रुपए का बड़ा हुआ हरजाना भरने का भी निर्देश दिया उनके अपराध की गहराई की चर्चा पूरे फैसले में कहीं भी नहीं की गई थी उनके पासपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि वह पति पत्नी वर्ष उन्नीस से ही हर वर्ष भारत आया करते थे वे कई देशों में अपना धंधा चलाते थे और उनके लैपटॉप बच्चों की तस्वीरों से भरे पड़े थे जिसमें श्रीलंका और फिलीपींस के भी बच्चे थे स्वयं को अकेला बुजुर्ग पति पत्नी बताकर वे गली के बच्चों और उनके माता पिता से दोस्ती करते थे और उन्हें दान की आड़ में खुशहाल जिंदगी का वायदा करते थे श्री मार्टी जिसने स्वयं को एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मैनेजर बताया था और उसकी पत्नी दोनों के पास से चिकनाई वाले पदार्थ या लुब्रिकेंट्स कंडोम और लिंग के ऊपर छिड़काव करने वाले स्प्रे पाए गए थे लिली मार्टी एक ट्रेन नर्स थी जो शोषण या अत्याचार के शिकार बच्चों के घाव की दवा पट्टी करती थी लेकिन सबूत के रूप में रिकॉर्ड की गई इन बातों में से किसी भी बात का जिक्र मुंबई हाईकोर्ट के फैसले में नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज वी एन खरे थे उन्होंने 5 अप्रैल 2004 को अपने फैसले में इन बाल अपराध के दोनों दोषियों को जमानत दे दी लेख समाप्त होता है भारत के सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज श्री खरे से जमानत मिल जाने के बाद दोनों धनवान स्विट्जरलैंड वासी बाल यौन शोषण अपराधी भारत से बच निकले इस प्रकार के जमानत के आदेश पुलिस वालों और निचली अदालत के जजों के मनोबल गिरा देते हैं वे अवश्य ही सोचेंगे कि अपराधी को सजा दिलाने का उनका प्रयास बेकार गया और उन्हें इस बात का मन में दुख भी होगा कि घूस दिए जाने के प्रस्ताव को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया मुंबई हाई कोर्ट के जज द्वारा छोड़े जाने का आदेश संविधान के खिलाफ था और सुप्रीम कोर्ट प्रधान जज खरे द्वारा दोनों धनवान स्विट्जरलैंड वासी बाल अपराध के दोषियों को दिया गया जमानत का आदेश भी संविधान का घोर उल्लंघन था संविधान के ऐसे उल्लंघन इसलिए होते हैं क्योंकि हम आम नागरिकों के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले जजों को नौकरी से हटाने की कोई प्रक्रिया या तरीका नहीं है अब हम बात करते हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का समाज पर क्या प्रभाव होता है यदि हम कोर्ट में सुधार नहीं लाएंगे तो अमीरों द्वारा सबसे करीब निन्यानवे प्रतिशत नागरिकों पर अन्याय तो बढ़ता ही जाएगा समाज में मिलजुल कर रहने की स्थिति कम हो जाती है और देश के प्रति आम नागरिकों की वफादारी कम हो जाती है जब विशिष्ट या उच्च वर्ग के लोग आम लोगों पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं और समाज में मिलजुल कर रहने की स्थिति में कमी आने से प्रशासन और सेना की ताकत भी कम होती है जब नागरिकों को कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें राष्ट्र और समाज की रक्षा करने में भी कोई लाभ नजर नहीं आता है पुलिस पर कोर्ट आदि में अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने से दिनों दिन देश प्रेम की भावना में कमी आती जाती है और इससे पूरा समाज राष्ट्र और यहाँ तक कि राष्ट्र का प्रत्येक अंग प्रशासन पुलिस सेना आदि भी कमजोर हो जाते हैं ऐसी अव्यवस्था से राष्ट्र कमजोर होगा और इसका परिणाम फिर से देश की गुलामी के रूप में होगा नागरिक जजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संविधान की अवहेलना और जजों का अन्यायपूर्ण व्यवहार रोक सकते हैं और कैसे नागरिक कोर्ट में तेजी से मुकदमों का निपटारा करने के कार्य में सुधार कर सकते हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे अभी हम देखें कि निचली अदालतों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदारी की कमी के कारण क्या हैं अदालतों की संख्या बढ़ने से कार्रवाई में तेजी आएगी लेकिन उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अदालतों में कुछ परिवर्तनों की जरूरत है अदालतों में समस्या ये है पहली बाई भतीजेवाद वकील और आसिल यानी वकील के ग्राहक या मुवक्किल जो जजों के रिश्तेदार होते हैं वे एक के बाद एक मुकदमे जीतते जाते हैं दूसरी जज वकील की मिली भगत तीसरी जज अपराधी की मिली भगत चौथी जजों में भ्रष्टाचार और पांचवी जजों को नौकरी पर रखने में भाई भतीजेवाद या रिश्तेदारों की तरफदारी अब देखते हैं कि जूरी सिस्टम क्या है हम पहले बताए गए पांच में से चार समस्याओं के लिए जूरी सिस्टम और पांचवी समस्या के समाधान के लिए लिखित परीक्षाओं द्वारा जजों को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव करते हैं दुख की बात है कि भारत में ज्यादातर मतदाता और शिक्षित लोग भी जूरी सिस्टम क्या है के बारे में कुछ भी नहीं जानते ऐसा इसलिए है कि भारत के बुद्धिजीवी लोग जूरी सिस्टम के इतने ज्यादा विरोधी हैं कि इन्होंने कभी भी जूरी सिस्टम के बारे में छात्रों और आम कार्यकर्ताओं को जानकारी ही नहीं दी जूरी सिस्टम में प्रत्येक मुकदमे का फैसला जज के बदले जिले राज्य और राष्ट्र के मतदाता सूची में से क्रम रहित या अंधाधुंध तरीके से चुने गए 15 से 20 अलग अलग नागरिकों द्वारा किया जाता है जिन्हें जूरी सदस्य कहा जाता है पूरे देश के 20-25 लाख मुकदमे 3 करोड़ नागरिकों द्वारा सुलझाए जाएंगे प्रत्येक मुकदमे के साथ जूरी मंडल के सदस्य बदल जाते हैं एक नागरिक कम से कम पांच वर्षों के लिए फिर से जूरी मंडल का सदस्य नहीं बन सकता है यदि किसी जिले में हर वर्ष पांच हजार मुकदमे या मामले आते हैं और मान लीजिए पांच वर्षों में पच्चीस हजार मुकदमे आते हैं तो जूरी सिस्टम में इन्हें तीन लाख से पांच लाख अलग अलग नागरिकों द्वारा सुलझाया जाएगा यदि जूरी सिस्टम की तुलना जज सिस्टम से करें तो जज सिस्टम में व्यक्तियों का एक छोटा समूह मान लीजिए बीस हजार से एक लाख व्यक्ति भारत में हर साल आने वाले 20 से 25 लाख मुकदमों का फैसला करते हैं यदि किसी जिले में हर वर्ष 5000 मुकदमे या मामले आते हैं और मान लीजिए पांच वर्षों में 25000 मुकदमे आते हैं तो जज प्रणाली सिस्टम में लगभग 20 से 25 जजों द्वारा उन्हें निपटाया जाता है जूरी सिस्टम में संख्याओं का 1800 से 2000 गुना ज्यादा होने से जूरी सिस्टम में मिलीभगत भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार के अवसर बहुत ही कम हो जाते हैं जूरी वकील की मिलीभगत की संभावना जज वकील की मिलीभगत की तुलना में बहुत ही कम होती है क्योंकि जूरी मंडल के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है आगे की चर्चा हम अगले वीडियो पार्ट दो में करेंगे मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं